ये सब बताते हुए निशा काफी इमोशनल हो चुकी थी और उसकी आवाज भी थोड़ी भारी हो चुकी थी निशा की बात सुनकर विक्रांत और बाकी के सभी लोग काफी शॉक्ड रह गए ऐसा इसलिए था क्योंकि हर्षवर्धन की मौत के बाद से ही गाजियाबाद में लोगों का मर्डर होना भी बंद हो चुका था कैसे मरे थे वो रूही ने फिर सवाल किया और इसके साथ तुरंत ही एक और सवाल उसने निशा से कर डाला कहीं उनकी मौत दंगे की वजह से तो नहीं हुई थी क्या नहीं नहीं नहीं दंगे की वजह से नहीं निशा ने तुरंत ही जवाब दिया मुझे भी एक बार यही लगा था कि शायद दंगे की वजह से उनकी मौत हुई थी लेकिन बाद में मैं उनके घर भी गई थी तब पता चला कि हर्षवर्धन सर को अचानक से मस्तिष्क ज्वर हो गया था और इसी वजह से उनकी अचानक डेथ हो गई उनकी अचानक मौत होने से हम सब लोग काफी शॉक्ड हो गए थे विक्रांत को अपनी तरफ आंखें झपकाते हुए देखकर रूही ने तुरंत सवाल किया ओ तो बीमार होने के पहले वो कैसे थे हम्म, पहले तो बिल्कुल ठीक थे कोई बीमारी वगैरह भी नहीं थी देखने में भी स्वस्थ थे निशा ने जवाब दिया स्कूल में भी मैं उनको अक्सर भारी भारी सामान अकेले उठाते देखती थी और काफी फिट थे वो बाद में जब हम लोग गाजियाबाद गए तब भी वो बहुत एनर्जेटिक दिखते थे उस टाइम उनकी उम्र लगभग पचास साल के आसपास थी तब भी वो काफी स्वस्थ थे अगर उनका स्वास्थ्य सही ना होता तो फिर वो नया बिजनेस करना शुरू ही नहीं करते रूही ने फिर कुछ देर तक सोचने के बाद कहा अच्छा जब वो गाजियाबाद में थे तब भी वो काफी काम किया करते थे भले ही कंपनी नई नई शुरू हुई थी तब भी ये बहुत अच्छा काम कर रही थी कभी कभी जब हम लोग मिलकर काम नहीं कर पाते थे तो फिर खुद हर्षवर्धन सर भी मदद करने लग जाते थे कई बार तो वो एक एक स्कूल में जाकर इक्विपमेंट की डिलीवरी करते थे यहाँ तक कि कई बार तो वो इक्विपमेंट की रिपेयरिंग भी करने लग जाते थे निशा ने जवाब दिया रूही ने फिर सवाल किया ओ तो ये बताओ कि हर्षवर्धन और केशव के बीच कैसा रिलेशन था इस पर निशा ने कुछ देर सोचने के बाद कहा कोई बुरा नहीं था क्योंकि हर्षवर्धन सर ने सिर्फ उन्हीं लोगों को काम करने के लिए बुलाया था जिन पर वो भरोसा करते थे और अगर वो किसी को नापसंद करते तो वो उसे अपने साथ काम करने के लिए क्यों बुलाते हालांकि केशव ज्यादा किसी से बात नहीं करता था लेकिन वो बहुत होशियार था उसने बहुत कम समय में सारा काम सीख लिया था हम लोगों से भी जल्दी वो सारा काम सीख गया था इसके बाद फोन रखने से पहले रूही ने निशा से कुछ और भी सवाल किया था फिर विक्रांत ने रूही से ये सब रिपोर्ट नैना को देने के लिए भी कह दिया था ताकि नैना की टीम इस मामले को आगे भी इन्वेस्टिगेट कर सके रूही ने तुरंत ही नैना को सारा रिपोर्ट दे दिया और फिर उसके बाद कुछ देर तक वार्ड में बिल्कुल सन्नाटा पसरा रहा कुछ देर के बाद इंस्पेक्टर करण ने सन्नाटे को तोड़ते हुए विक्रांत को बताना शुरू किया विक्रांत सर मेरी अभी गाजियाबाद की लोकल पुलिस से बात हुई है और उन्होंने बताया है कि डेविल केस से मिलता जुलता केस वहां आसपास के शहर में कहीं भी देखने को नहीं मिला है और वो तीनों लड़के जहां जहां रहते थे उनके शहर में भी ऐसा कोई केस देखने को नहीं मिला है इसका मतलब ये था कि अब वो तीनों लड़के भी इस केस के सस्पेक्ट की लिस्ट से बाहर हो चुके थे तो रूही को कुछ समझ में नहीं आ रहा था लेकिन उसने फिर व्हाइट बोर्ड पर लिखे हर्षवर्धन के नाम के आगे इशारा करते हुए कहा इसका मतलब अब ये आदमी हमारी लिस्ट में सबसे बड़ा सस्पेक्ट है लेकिन हमारे लिए दिक्कत वाली बात यह है कि इस आदमी की मौत हो चुकी है अच्छा ये हो सकता है कि इसी ने डेविल केस को अंजाम दिया हो विक्रांत ने गहरी सांस ली उसके दिल से ये आवाज आ रही थी कि हर्षवर्धन असली कातिल नहीं है हालांकि कई सारे क्लू ऐसे थे जो कि हर्षवर्धन के कातिल होने की तरफ इशारा कर रहे थे उसकी लोकेशन मर्डर होने का टाइम पीरियड और जहां तक है कि उसके पास मकसद भी पूरा रहा होगा जिसके आधार पर वो डेविल केस का कातिल हो सकता है जब वो जामनगर में था तो हो सकता है कि वो मन्नू द्वारा केशव की होने वाली रैगिंग को ना बर्दाश्त कर सका हो बाद में हो सकता है कि उसने केशव के साथ सिंपैथी दिखाते हुए उसे अपने साथ काम करने के लिए बुलाया हो हो सकता है कि वो केशव की स्किल से प्रभावित होकर नहीं बल्कि उसे इतना परेशान देकर उसे पैसे कमाने का मौका देना चाह रहा हो फिर मन्नू का मर्डर करने के बाद हो सकता है कि उसे खून करने की लत लग गई हो और फिर जब वो वापस गाजियाबाद पहुंचा और वहां पर उसने जिस किसी को भी किसी दूसरे को परेशान करते देखता था तो उन लोगों को भी मारने लगता था इस तरह से पूरा डेविल केस हुआ और फिर जब कुछ दिन बाद हर्षवर्धन की मौत हो गई तो डेविल केस भी खत्म हो गया कहीं यही तो इस केस की पूरी सच्चाई नहीं है विक्रांत को काफी आश्चर्य हो रहा था डेविल केस शायद इसीलिए इंडिया का सबसे बड़ा अनसॉल्व केस है जैसे उसके दिमाग में ये विचार आया उसे कुछ समझ में नहीं आया और वो हल्की सांस छोड़ते हुए अपना सिर हिलाने लग गया क्योंकि उसने सुबह के टाइम ही काफी हैवी खाना खा लिया था इसलिए विक्रांत ने दोपहर का खाना कैंसिल कर दिया और पूरा टाइम व्हाइट बोर्ड के आगे खड़े होकर केस के एनालिसिस करने में ही लगा दिया पिछली रात रूही रात भर काम करने में लगी रही थी ऐसे में वो काफी थक गई थी और इस टाइम वो विक्रांत के बगल वाले बेड पर ही सो रही थी इंस्पेक्टर करण भी काफी थके हुए थे और वो भी रूम में पड़े सोफे पर लेटकर खरांटे भर रहे थे विक्रांत बड़े ध्यान से केस को समझने में लगा हुआ था और उसे ये एहसास हो रहा था कि इस केस में तो काफी लोग इन्वॉल्व हैं और इसके साथ ही इस केस से जुड़े हुए और भी कई क्राइम केस थे जैसे कि किरण पंडित का मर्डर मेहता वाला केस और मन्नू का मरना ये सब केस कहीं ना कहीं डेविल केस से ही अटैच्ड थे कहने का मतलब डेविल केस वाकई में काफी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था हालांकि केस के बारे में एनालिसिस करते हुए विक्रांत को ये समझ में आ रहा था कि उसके व्हाइट बोर्ड पर केस से जुड़ी बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी नोट है जो इम्पोर्टेंट नहीं है और शायद इन इन्फॉर्मेशन का केस से कुछ लेना देना भी नहीं है ऐसे में वो केस पर अपना विजन क्लियर करने के लिए बोर्ड पर से उन इन्फॉर्मेशन को हटा देना चाहता था ताकि जो काम की बात है सिर्फ उसी पर फोकस किया जा सके लेकिन यहाँ मुश्किल ये था कि कौन सी इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है और कौन सी इम्पोर्टेंट नहीं है निर्णय करना उसके लिए काफी मुश्किल होता जा रहा था इस बात को समझने के लिए वो व्हाइट बोर्ड पर लिखे एक एक पॉइंट पर सर्किल बनाकर ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये इन्फॉर्मेशन केस से रिलेटेड है या नहीं लेकिन वो जिस भी पॉइंट को पकड़ता था वहां से केस का कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर निकल कर आ रहा था जैसे कि एक बार के लिए उसे लगा कि किरण पंडित के मर्डर का इस केस से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए लेकिन फिर अगले ही पल दिमाग में ये सवाल आता था कि अगर किरण पंडित का इस केस से कोई कनेक्शन नहीं है तो फिर उसके डॉक्यूमेंट्स के बीच में डेविल का स्केच क्यों मिला था और वो क्यों मरने के लिए कुछ दिन पहले इंटरनेट पर डेविल केस के बारे में सर्च कर रही थी कहीं मेरा शक सही तो नहीं है क्या सच में किरण को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसे डेविल केस की सच्चाई पता लग चुकी थी कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे ये पता लग गया था कि केशव ही डेविल केस का असली कातिल है इसलिए केशव पंडित ने उसका खून कर दिया लेकिन अगर केशव डेविल केस का असली कातिल नहीं है तो फिर उसने अपनी वाइफ किरण पंडित का खून क्यों किया अभी तक किसी ने भी डेविल केस में कातिल के कत्ल करने के तरीके पर ध्यान ही नहीं दिया था क्योंकि ना तो क्राइम सीन को देखकर और ना ही विक्टिम्स की डेड बॉडी देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका मर्डर हुआ है पहली नजर में तो पूरा केस ही सुसाइड का मामला लगता था यहाँ तक कि क्राइम सीन से भी आज तक कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला था जिससे ये साबित हो सके कि असल में विक्टिम ने सुसाइड नहीं किया है बल्कि उसका मर्डर हुआ है इसलिए आज तक पुलिस ये कंफर्म नहीं कर पाई है कि डेविल केस सुसाइड केस है या मर्डर केस और अगर डेविल केस वाकई में सुसाइड केस नहीं बल्कि मर्डर केस है तो फिर कातिल ने आखिर किस तरीके से विक्टिम को मारा है विक्रांत के दिमाग में इस तरह के हजारों सवाल उमड़ रहे थे तभी अचानक से विक्रांत को एहसास हुआ कि शाम के पांच बज चुके हैं